नः तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरम् जङ्गमम् व्याप्तम् यत्किञ्चेषितरातरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्मयम् व्यापयत् सर्वम् त्रैलोक्यम् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजा वेदान्ताम्बुजसूर्यूया तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्याशारदान्तो न्यूनातीतो निरञ्जना बिन्दुनादकलातीत तस्मै नम ज्ञानशक्ति सूढ़ तत्व मोक्षिता भक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः अनेकजन्म प्रदान कर्मबन्धविधायिने श्री मयि नम शोषण शोषणम् भवसिन्धोस्य व्यापनम् सारसम्पदा गुरोपादोदकम् सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकम् तत्त्वम् न गुरोरधिकम् तथा तद्वज्ञानात् परम् नास्ति मन्नाथ श्रीजगन्नाथ सद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादियनादेश गुरुः परमदैवतम् गुरो परतरम नास्ती तस्मै श्री नमः मे मातास्य पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोस्य विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देवदेव शरणं मम देवदेव यन्मायावशिकर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यथ भाति सकलम् रज्जव्यथाहे भ्रमः यथ पादप्लवमेकमेव हि भवां भोगे स्थितिर्षावताम् वन्देहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधार वरणौ रघु पर विमल यश जो गायक फल चारु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय दुआ संख्या दो के बाद धारा संख्या दो हरषि भरत को तो पुर आये समाचार सब गुरु सुनाए सुन मंदिर माँ बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई सुनत सकल जननी उठिठाई कही प्रभु कुशल भरत समुझाई समाचार पूर्वासिन पाए नरे नारी हरस सब धाये दधि दुर्वारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरी पर हेम थार भामिनी गावत चले सिंदूर कामिनी जे जय सही तय सही उठ धावी बाल वृद्ध कहूँ संगन लावी कई कन का पूजन भाई तुम देखे दयालु रघुराई अवधपुरी प्रभु आवत जानी गई सकल शोभा कै खानी बहहि सुहावन त्रिविद समीरा भय सरजू निर्मल नीरा हर सिद्ध गुरु परिजन अनुज भूसुर ब्रंद समेत जले भरत मन प्रेम सन मुख कृपा निकेत बहुतक चढ़ी अटारन कहीं गगन विमान देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान राजा शशि पुर सिंधु देखी हरसान बड़े गुलाब काल करत जन नारी तरंग समान तरंग समान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु भाई सब संतन की जय निर्माण करें कि अयोध्या से हनुमान जी शनिवेद पर पहुंच गए भगवान को उन्होंने अयोध्या की समाचार सब सुनाए और भगवान भी तुरंत ज्ञान पर बैठ करके वहां से प्रस्थान कर देते हैं चल देते हैं अभी इधर की भी बात बताते हैं कि इधर भरत जी को जो समाचार ही सब प्राप्त हुए तो उन्होंने क्या किया उसका करना मेरे कहते हैं हर्ष भरत कौशल उधर जब भरत जी को समाचार मिलते भगवान आने वाले हैं तो बस भरत जी भी बड़े प्रसन्न होकर के कौशलपुर आए इसी से पता चलता है कि पहले नंदीग्राम में थे वही हनुमान जी उनको मिले थे तब ये नगर में अयोध्या नगरी में उस समय भरत जी नहीं थे अब जो समाचार प्राप्त हुए तब वो अयोध्या में आए समाचार सदगुरु ने सुनाए कोरोना सारे समाचार सबसे पहले आकर के उन्होंने स्वयं गुरु वशिष्ठ जी को समाचार दिया ये बताया कि इस प्रकार से सूचना आई हनुमान जी आए वो हमको बता गए कि भगवान इस प्रकार से आने वाले है वो बस हम पुस्तक आ गए हैं और यहां से आ रहे हैं ये सब बातें उन्होंने बताई तो इसके माने ये उसके साथ वशिष्ठ जी और दूसरे प्रारी भगवान से मिलने के लिए वो तैयारी करने लगे पुण्य मंदिर महाबाद जनाई उसके बाद भरत जी जो वो मंदिर के माने राजभवन में आए वहां पर और ये सूचना सबको माताओं को ये सूचना करवाई कि भगवान श्री राम जी आ रहे जनाई के माने जो है वो जनवाई माने सेवक जो है उन लोगों से सबके पास सूचना भेज दी सब माताओं के पास भगवान श्री राम जी आ रहे हैं आवत नगर कुशल रघुराई ये सूचना है संक्षेप में ये बात हुई भगवान श्री राम जी सब सल आ रहे हैं जहाँ ये बात जो हवन में पहुंची तो माताओं ने क्या क्या सुनत सकल जननियों उठाई पास ये बात सुनते ही सब माताओं की जैसे खबर लगे तैसे वो उठ दौड़ी और वो क्यों जो दौड़ी सबकी विशेष जानकारी के लिए कि कब आ रहे हैं कहाँ तक आ गए हैं कैसे आ रहे हैं अब हमको क्या करना चाहिए ये सब जिज्ञासा लेकर के वो सब माताएं दौड़ पड़ी निकलने लगी तो कई प्रभु कुशल भरत समझाई तब तक वो भरत जी के पास पहुंच गए अब वो भरत जी ने फिर उनको सब कुशल समाचार उनको सबको बताया डिटेल सब उनको फिर बताए फिर आप कहते हैं कि समाचार पूर्ववास ने पाए अब इसमें भरत जी ने पूर्ववासियों को समाचार नहीं दिया दो जगह एक जगह तो स्वयं कहा दूसरी जगह सेवकों से फैलाया और प्रवासियों में वो बस फिर राजभवन के समाचार पहुंच गया और जिन सेवकों ने राजभवन में सब सूचनाएं दी उन सेवकों ने फिर अन्य लोगों को भी बता दिया और धीरे धीरे करके नगर भर में ये सब बात मालूम हो गई समाचार सर्वासन पाए नगर वासियों ने समाचार पाया और नर नार हर्ष सब धाये परमात्मा से सत्य वो हो भगवान के दर्शन करने के लिए उनसे मिलने के लिए नगरवासी भी साथ पुरुष और स्त्री सब चल <clears throat> पुरुष पहले बोल दिया उसके मैंने पुरुष लोग पहले चल दिए और उसके पीछे स्त्रियां भी चल दी अब ये सब लोग कैसे चलते हैं भगवान से मिलने के लिए <clears throat> वो सब बताते हैं दरिद्र चल फल फूला ये सब जो है वो जब मिलने चलते हैं तो ये सब लोग ये मंगल का सामान लेकर के तब निकलते हैं भगवान से मिलने के लिए तो ये मंगल मूला मंगल के मूल में ये है ये सामग्री इस प्रकार से दही दुर्वा दही दुर्वा बने दूध की घास रोचन गुरोचन फल फूल ये सब नव तुलसी दल तुलसी दस नव तुलसी दल नवन नया तुलसीदास तो है ही है लेकिन सबसे ऊपर वाली गोपल जिसमें की मंजरी जरासी निकली है दो पत्तियां हैं उसको लव तुलसी दल कहते हैं वो लेकर के उतना टुकड़ा निकाल करके <clears throat> वो सब रखा और फिर उसके साथ लोगों लेकर के आगे पहुंचते हैं और भी बहुत सी वस्तुएं फिर इस प्रकार के मांगलिक है सुपारी वगैरह है पान है दूसरी वस्तुएं हैं जिनकी के सबके नाम यहाँ गिनाए हैं वो सब वस्तुओं में मांगलिक वस्तुओं को लेकर के सब हो जाते बड़ी बड़ी बड़े हेम थार भामिनी ये सब ये मंगल की सामग्री जो है स्त्रियों का काम है वो सब सजा सजाती है मंगल की सताली और वह सब सामग्री लेकर के रखती है और लेकर के चलती है हेमधार स्वर्ण की थाली स्वर्ण की थालियां हैं उनमें सब ये भर भर करके लेकर चलती है भागनी स्त्रियां भाग्य मैंने प्रकाश तेजस्वी स्त्रियां वो स्त्रियां ले लेकर के ये भगवान के दर्शन प्राप्त करने चल रही हैं तो जो बहुत ही सौभाग्यशाली है पुण्य जिनके उदय हुए हैं वे सब भगवान के दर्शन करने के लिए ये संबंध मूल सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं कहावत चले सिंधु गामिनी सिंदूर के माने है हाथी डर गामिनी गज की तरह से हाथी की तरह से उस प्रकार से ये सब चल चल रही है और गाती हुई चली जा रही मंगल गीत गाती हुई ये सब अपने अपने घर से निकली और निकल करके भगवान की तरफ से आने वाले थे उस दिशा की ओर ये सब लोग चल गए आगे पुरुष लोग चले जा रहे हैं निकल करके पीछे से स्त्रियां भी सब सामग्री सजा करके उसके पीछे से ये भी सब आती है सब चलते हैं तो इनका उत्साह दिखाते हैं कहते हैं कि जय जय सही तैसे सही उठता रही अब जहाँ जिसको समाचार मिलता है नगर में तो जहाँ जिस अवस्था में है वहीं से चल देता है भगवान से मिले मतलब विलम्ब नहीं करता जय जय सही तय सही उठता रही और बाल बुद्ध का संग न लावई अब देखो जितने युवा है शक्तिशाली है वो तो सब चल देते हैं इस प्रकार और जो बहुत छोटे हैं उनको साथ नहीं लेते प्रत्यय उनको साथ नहीं लेते हरे प्रत्यु को साथ लेकर के चलो तो बस उसी के धीरे धीरे धीरे धीरे पीछे ही रह जा बालकों को लेकर चलो तो वो बस उनको धीरे धीरे चलेंगे पीछे ही जा तो ये सब मन विलम्ब न हो इसलिए इन सबको साथ में नहीं लेते उत्साह के कारण जैसे है तैसे ही भाग चलते हैं ये सब भगवान से मिलने के लिए जैसे ही तैसे ही माने वस्त्र को बदलो और फिर अच्छे कपड़े पहन करके चलो तैयार होकर के सो नहीं करते वो सब जैसे जिस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं वैसे पहने चल देते हैं और जैसे वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को वहीं छोड़ करके चल देते हैं भगवान से मिलने के लिए ऐसा बताते हैं और कि एक ने कहा पूछे भाई और रास्ते में एक दूसरे से पूछते जाते हैं कहते हे भाई तुम देखिए दयाल रघुराई क्या तुमने देखा कि भगवान आ गए हैं हाँ? तब देखे मैंने वो समझते हैं कि भगवान आई गए हैं नगर में कहीं राजभवन की तरफ आ गए हैं सड़कों पर कहीं आ गए हैं तो किसी ने देखा होगा वही समाचार दे रहा होगा तो एक दूसरे से पूछते क्या तुमने देखा उनको आए ये समाचार है ये लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि इनको पक्की बात ठीक ठीक पता नहीं जैसे <clears throat> वशिष्ठ जी को तो मालूम हो गया ठीक ठीक माताओं को भी जब अगर जी मिले तो उनको भी ठीक ठीक मालूम हो गया और बाकी बात तो सब लोगों ने एक की बात दूसरे से दूसरे से तीसरे से जितनी जितनी जो कह पाया उतनी उतनी बात सुनाई तो पूरी पूरी बात लोगों को नगरवासियों को सबको पता नहीं चल पाई लेकिन ये मालूम है बस भगवान आ रहे हैं आ रहे हैं अब ये भी किसी को बहुत लोगों को पता नहीं कि यान से आ रहे हैं कुछ भगवान से चले आ रहे हैं कि पैदल चले आ रहे हैं कि दक्षिण दिशा से चले आ रहे हैं कि पूरब दिशा से चले आ रहे हैं ये सब बातें जो हम लोगों को मालूम नहीं भगवान जब आते हैं तो कहते हैं कि कोई तो जो वो कहते हैं भगवान जब आए से दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रहे थे इसलिए फिर वो हो अयोध्या की दक्षिण दिशा में भगवान पहुंचे वहां वायुवान उतारा कोई कहते हैं नहीं पूरब की दिशा से आए जब श्रृंगवीरपुर से चले तब अयोध्या जो है वहां थोड़ा सा <clears throat> उसमें उत्तर और पश्चिम के कोने में पड़ता है तो दक्षिण की तरफ से भी पहुंच सकते थे उधर की तरफ से भी पहुंच सकते थे तो अब उन लोगों में भी किस तरफ से आ रहे हैं इधर से आ रहे हैं इधर से आ रहे हैं <clears throat> तो कुछ लोगों ने अनुमान लगाया जिधर से गए उधर से तो आएंगे हाँ, इसलिए उसी तरफ चलो तो वो पूछते हैं क्या इधर आए भगवान एक दूसरे से इस प्रकार पूछते हुए जिसे जानकारी करते हुए बात करते हुए रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं अब ये लोग तो इस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं अब ये बात कहते हैं देखो अवधपुरी प्रभु अवध जानी अब कहते हैं अयोध्या ने जाना कि भगवान आ रहे हैं ये तो अवधवासी राशि थे और राजभवन के लोग थे बचने के लिए थे लेकिन अब कहते हैं अयोध्या नगरी में भी जाना कि भगवान आ रहे हम्म? तो अयोध्या नगरी भी तैयार हो गई भगवान के स्वागत के लिए भरी सकल शोभा कह खानी अयोध्या नगरी बड़ी सुंदर बन गई उसमें शोभा की खानी मैंने समस्त शोभा उसमें आ अब ये अयोध्या नगरी की बात यहाँ पर विशेष है उसे सावधानी पूर्वक देखना चाहिए आगे चल करके उसकी बात अयोध्या की आती है <clears throat> तो ये अयोध्या प्रतीक है अपने हृदय का भगवान जब आते हैं तो हृदय में आते हैं साधक को भगवान जब मिलते हैं तो हृदय में मिलते हैं तो हृदय में जैसा उत्साह होता है भगवान के मिलने का वही अयोध्या भूमिका है <clears throat> हृदय की जो वृत्तियां हैं वो अयोध्यावासी हैं अयोध्या नगरी है लेकिन इसको अयोध्या भी कहते हैं पोषण नाम भी दिया जैसे पीछे का हर्ष से भक्त पोषण आए तो कौशल भी कहते हैं कौशल इसलिए कहते हैं कि चूंकि ये कुशल से कौशल बना है जहां सब प्रकार से कुशलता हो वो कौशल है कुशलता एक शब्द और एक कुशलता का माने है भलाई मंगल सब हो वो कुशलता है और एक कुशलता का माने एफिशिएंसी वो भी कुशलता है तो ये जब हृदय इस प्रकार से हो जिसमें कि कुशलता आ जाए तो वो कुशल हृदय अयोध्या है कौशल है और जहाँ अवध अयोध्या जहाँ पर की युद्ध न हो द्वंद न चले शांत चित्त हो <clears throat> वो शांत चित्त हृदय जो वो हो वो अयोध्या है बस ऐसी अयोध्या जो है भगवान को प्रिय भी है और वही भगवान आकर के उसी हृदय भी मिलते हैं <clears throat> उसके अपने हृदय में ध्यान करते हुए कि भगवान आ रहे हैं और ये अयोध्या क्या है अपना हृदय ही है <clears throat> ऐसे समझ करके इस स्थल पर देखें भक्त मन जीव है भगवान परम परमात्मा है इनका दोनों का जो मिलन हृदय में जो है वो किस प्रकार से होता है उसको देखें तावत पुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा को खानी ये बहुत सुंदर हो गई पहले भी कल बता चुके थे कि अयोध्या जो है वो हो जब भरत जी पिछली बार जब आए ननिहाल से तब ये कालरात्रि के समान भयंकर लग रही थी अयोध्या क्योंकि भगवान राम नहीं थे अब जब भगवान आ रहे हैं भगवान आते हैं तो वही अयोध्या सुंदर बन गई तो हृदय की दो अवस्थाएं एक अवस्था वो जहाँ पर कि काम क्रोध आदि विकार है परमात्मा नहीं है हृदय भूल गए परमात्मा को तो हृदय पर विकृत है उसमें संसारी वृत्तियां उसमें उत्पन्न होती हैं राग द्वेश आदि है काम क्रोध आदि विकार है ये सब उसमें है तो फिर वहां पर शांति नहीं है हृदय में कोई उसको शोभा नहीं है सुंदरता नहीं है कोई आनंद उत्साह नहीं है लेकिन जहाँ ये विकार दूर हुए तो बस विकार दूर होने के मैंने सदगुरु सब आ गए और परमात्मा ही आ गया तो परमात्मा आ गया तो बस समझो सब अयोध्या या हृदय सब शांति में आनंद में प्रसन्नता में उत्साह में हो गया और हृदय सुंदर बन गया तो सिद्धांत ये बना कि हृदय को सुंदर बना जिससे कि हृदय में परमात्मा के दर्शन को प्राप्त हृदय में जो विकार आते रहते हैं उन विकारों को दूर करने का प्रयास करते रहे सावधान रहे कि हृदय में ये विकार रहेंगे तो बस परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना है तो इन विकारों से छुटकारा पाना ही पड़ेगा स्वयं अपने प्रयास से दूर करें या उपासना से करें उपासना के मन मतलब भगवान से प्रार्थना करें उनसे सहायता मांगे तो उनकी कृपा से भी हृदय के विकार दूर हो सकते हैं अपने प्रयास से भी बहुत कुछ दूर होते हैं इस प्रकार से करके दोनों प्रकार से अपने हृदय के विकारों को दूर करें चित्त शांत हो निर्मल हो अंतर्मुखी हो तो वहां पर फिर परमात्मा के दर्शन हो कहते हैं बाहर सुहावन प्रकृति समीरा अब वहाँ पर जो तीनों प्रकार के शुद्ध वायु का प्रसार होने लगा वायु चलने लगी तो कैसे शीतल मंद सुगंध प्रवृत्त वायु कहलाती है शीतल मंद सुगंध चले वायु तो ये सुंदर वायु वो भी चलने लगी और सर जीव अति निर्मल नीरा और उत्तर दिशा में वहाँ जो अयोध्या की उत्तर दिशा में सरयू नदी उसमें भी चल जो बह रहा है वो निर्मल हो गया अब वैसे तो ये कहने के लिए भौतिक रूप में देखें तो भगवान जब आ रहे हैं तो ये सब जो पंच महाभूत जो है वो भी सब शुद्ध हो गए ये सब अनुकूल हो गए अयोध्या मल्ल भूमि और सरयू जल और आकाश से तात्पर्य यहाँ वायु जो वो हो आकाश में वायु ये सब वायु आकाश भूम जल ये सब जो है और तभी तभी आकर तो शीतल मंद सुगंध शीतल कह करके ये बता दिया कि अत्यधिक ताप उसमें वायु में नहीं है अग्नि की भी बात आ गई इस प्रकार के समस्त पंच महाभूत सबके सब अनुकूल हो गए ये स्थिति रहेगी बात में जब ये कहें कि वायु इस प्रकार से शीतल मंद सुगंध वायु हो गई तो हृदय में सदभाव उत्पन्न होने लगे जैसे कि आकाश में वायु का प्रसार होता है इसी प्रकार हृदय में भावों का संचार होता है वो तो सुंदर भाव हृदय में प्रवाहित होने लगे जहाँ उदारता क्षमा करुणा प्रेम शांति सौहार्द की जो भाव है ये सब जो है त्रिविध वायु की तरह से हृदय में चलती है तो वो उत्पन्न हो गए भाई जीवत निर्मल लीला के मैंने कि बस यहाँ परमात्मा के चरित्र जो है वो बालकांड में दिखाया है सब तुलसीदास जी की सरयू नदी क्या है भगवान के जो सुंदर चरित्र है उनकी गाथा जो वर्णन है वही सरयू नदी है तो ये यहाँ पर भगवान की स्मृति आ गई उनका बार बार उनके गुणों का स्मरण आ रहा है उनके चरित्रों का स्मरण आ रहा है वही मानो अपने हृदय में सरयू नदी का प्रवाह है इस प्रकार से ये अयोध्या की स्थिति इस प्रकार की हो गई और भगवान आ रहे हैं तो हर्षित गुरु परिजन अनुज दूसर ब्रह्म समेत चले भरत अब भरत भगवान से मिलने के लिए चले तो भरत जी सबको साथ लेकर के चलते हैं गुरु मन वशिष्ठ जी भी परिजन परिजन मैंने उनके सेवक लोग हैं वो भी सब उनके राजभवन में जो सेवक है वो भी उनके साथ चले अनुज शत्रुघ्न उनके साथ में है रूसुर विप्र लोग उनके साथ में है वृंद भूसुर वृंद में विप्रों का समुदाय समेत चले भरत इन सबको साथ लेकर के भरत चले तो मिलने के लिए चलने का ये नियम है इस प्रकार से कि जब चलते हैं ऐसे ही इसका तुलना करना चाहे तो वहाँ देख सकते हैं जनकपुरी में जब जनक जी आते हैं मिलने के लिए उनसे भगवान राम से या महाराज दशरथ से सब उसे आते हैं तभी सबको साथ में लेकर के आते हैं तो ये सब पितरों को भी साथ में लेकर के चलते हैं ये छत्री हैं इसलिए छत्री लोग जब चलते हैं तो अपने साथ में पितरों को रखते हैं उनके लिए मंगलकारी है सन्मार्ग दिखाने वाला है उनकी बुद्धि को शुद्ध रखने वाले हैं ये सब इनको साथ में लेकर के चलते हैं उनका आदर सत्कार करते हैं आगे आगे इनको सबको लेकर के चलते हैं ये गुरुजन और विप्रजन इनको आगे आगे लेकर के चलते हैं पीछे पीछे तो स्वयं भी उनके साथ चलते हैं ये विधान अपना अपने संस्कृत के ग्रंथों आदि में प्राचीन साहित्य में और जो बजाय अपने ये, ये जितने भी हैं शास्त्र उनको छोड़ करके जो साहित्य है जैसे कालिदास भवभूत इत्यादि के जो साहित्य हैं उनमें भी यही परंपरा दिखाई गई है उनमें भी वर्णन इसी प्रकार का किया गया है जब लोग चलते हैं मिलने के लिए इस प्रकार से तब ये विधान है जैसे कि यहाँ भरत जी चल रहे हैं तो ये सब लोग प्रसन्न हैं भगवान से मिलने जा रहे हैं तो इसकी प्रसन्नता पहले से है भगवान तो आनंद संग है ही है उनसे मिलकर के तो परमानंद की प्राप्त होगी लेकिन भगवान के मिलने की आशा भी आनंद देने वाली है और फिर जैसे जैसे हृदय शुद्ध निर्मल होता जाता है तो भी व्यक्ति को आनंद की अनुभूत होने लगती है परमात्मा की प्राप्ति होने पर तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है तो अध्यात्म साधना में ये बात ज्ञान स्पष्ट रूप से रहे और ये दृढ़ भावना रहे कि आनंद तो परमात्मा में ही है अन्यत्र जगत में जहाँ कहीं हम आशा करते हैं वो सब दुराशा मात्र है कहीं और आनंद नहीं आनंद परमात्मा में ही है प्राप्त होता है तो आनंद साक्षात आनंद प्राप्त हो गया और परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ यदि सत्गुण की अधिकता हृदय में हो गई तो भी परमात्मा का आनंद हृदय में प्रतिबिंबित होकर के उपलब्ध होने लगता है पहले इसलिए अपने आप को सत्यगुणी बनावे जिससे कि ये तो पहला काम है सत्यगुणी बनावे जिससे परमात्मा का आनंद हृदय में उपलब्ध हो और आनंद रहे प्रसन्नता रहे हर्ष रहे अपने हृदय में अब फिर तो वो ज्ञान के द्वारा भक्ति उपासना के द्वारा अपने हृदय में परमात्मा भी आ गए तब तो परमानंद ही प्राप्त हो जाए इसलिए भगवान के आने के पहले भी ये सब लोग हर्षित हैं इस बात की सूचना इसलिए कहते हैं हर्षित गुरु परिजन अनुज भूषण वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति और भरत जी के मन में भगवान का बहुत प्रेम है हर्षित भी है कि भगवान आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है कितने आनंद की बात है और भगवान में प्रेम भी बहुत है प्रेम के कारण से मिलने के लिए उत्कंठा प्रबल है इसलिए आगे बढ़ते जाते हैं तो कहते हैं कि सन्मुख कृपा निकेत अब ये कहाँ बढ़ते जा रहे हैं किस ओर जिधर से भगवान आने वाले हैं उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं कृपा निकेत के मन भगवान राम कृपा निधान भगवान कृपा निकेत क्यों कहते हैं कि भगवान अयोध्या में आ रहे हैं ये उनकी कृपा है हम्म। इसलिए कृपा निधान भगवान आते हैं तो उनके सामने की तरफ चले और बहुत चढ़ी है दारू अब उसमें जो है ये तो लोग पुरुष और स्त्री और ये सब लोग तो भगवान से मिलने अयोध्या नगरी के बाहर निकले चले जा रहे हैं लेकिन कुछ स्त्रियां जो है वो हो वो सब इस समुदाय के साथ में नहीं जाती हैं बल्कि छत के ऊपर चढ़ जाती हैं वहां से भगवान को देखती हैं बहुत चढ़ी हटारे न छतों चढ़ और निरखई गमन विमान और चढ़ करके जिनको को मालूम हो गया भगवान तो बाईगांव से आ रहे हैं तो देखें कि यान कहाँ आ रहा है तो छत के ऊपर चढ़ करके देख रहे हैं और निर्सई के माने ये है कि बड़े निटोर के देख रहे हैं आंखें लगा करके बहुत आकाश में दूर होने की वजह बहुत छोटा दिखाई देता वहाँ तो आता हुआ मालूम पड़ने लगा आता हाँ वो आ रहा वो आ रहा वहां से दिख गया दूर का तो इस प्रकार से उन्होंने दिखा देखो तुलसीदास जी कैसा वर्णन करते हैं एकदम से चित्रात्मक शैली कहलाते ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे घटनाएं घटती है वैसी वर्णन करते जाते हैं कि बहुत से स्त्रियां छत के ऊपर चढ़ी हुई दूर से आते हुए वायुयान को देखती हैं और देख मसुर सुर हर्षित और करण सुमंगल गान बस जहाँ पाईगान दिखाई देने लगा तो बस मंगल गान मंगल गीत गाने मधुर सुर में अपने प्रेम के साथ में भगवान के आगमन की सूचना सुन करके गीत गाने लगी राधा फस रघुपतिपुर सिंधु देश हरसान अब देखो अभी तुलसीदास की कविता से कविता तो सभी है लेकिन अब विशेष रूप से यहाँ रूपक अलंकार भी कहते हैं राधा शशि रघुपति भगवान श्री राम जी जो है राधा शशि राधा मन पूर्णिमा शशि चंद्रमा पूर्णिमा की रात्र के चंद्रमा के समान तो भगवान है चंद्रमा आकाश में और भगवान भी याम से आकाश में ही आ रहे हैं इसलिए आज इस समय आकाश में स्थित भगवान राम या तो चंद्रमा की तरफ है या सूर्य की तरफ है ये सूर्य चंद्रमा दोनों ही आकाश में प्रकाशवान है ऐसे भगवान राम भी आकाश में प्रकाशित है तो वो चले आ रहे हैं और आकाश से रघुपति पुर सिंधु अब जब चंद्रमा उदित होता है तो फिर समुद्र क्या तो समुद्र के समान जो है अयोध्या नगरी है जब चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो समुद्र में ज्वार आता है उसमें तरंगें उठती है ऊपर को समुद्र उठता है तो देख रहे हैं जब पूर्व सिंधु देख हर शाम जैसे चंद्रमा को देख करके पूर्णिमा को देख करके समुद्र हर्षित हो और हर्षित होना माने समुद्र का ऊपर उठना तरंगित होना ये माने समुद्र का हर्ष है तो ऐसे समस्त अयोध्या रूपी सागर भगवान को चंद्रमा रूपी भगवान को देख करके प्राप्त करके सब अयोध्या को पूरी और बड़े कुलाहल करत जन नारी तरंग समान और जो समुद्र बढ़ता है आ आता है तो उसमें बड़ी बड़ी तरंगे उठती है और तरंगे उठने के कारण कुलाल भी होता है उनमें तरंगियों की आवाज ज्यादा हो जाती है ठंड ज्यादा हो जाती है इसी प्रकार से अयोध्या भर में सब लोग बातचीत कर रहे हैं सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं मंगल गान हो रहे हैं तो ये सब उसमें अयोध्या के सागर की अयोध्या में कोलाहल हो रहा है जो समुद्र में हो रहा और जैसे समुद्र में तरंगें उत्पन्न होती हैं वैसे ही नारी तरंग समान और उसमें स्त्रियां जो वो हो वो तरंगों के समान तो तरंग या स्त्री नहीं है इसलिए उसकी तुलना स्त्रियों से करनी अयोध्या नगर की जो स्त्रियां हैं वो मानव तरंगों के समान है तो बस अब दोनों ये इस प्रकार एक और भगवान राम जैसे चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा हो उस प्रकार से भगवान भगवान अयोध्या वासियों को शीतलता प्रदान करने के लिए शांति प्रदान करने के लिए आनंद प्रदान करने के लिए ताप हरण करने के लिए जैसे चंद्रमा उदित होता है ऐसे भगवान आ रहे हैं तो ये तो सब समानता चंद्रमा की भगवान राम से है दूसरी ओर अयोध्या की समानता समुद्र से है समुद्र में जिस प्रकार से चंद्रमा के उदित होने से प्यार आता है उसमें उत्थान आता है इस प्रकार से अयोध्या में भी सब लोग घरों से निकल पड़े नगर के बाहर आ रहे हैं